नसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धां जगद्धाम नमामि तत् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशुकसौनकभीस्मदाल् व्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानि मान् नमाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणवामि पुनः पुनः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज रवि कर निकर भूपते हृदये स्मदीये सत्यं बदां च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरुमान् सञ्च बन्दौ नाम राम को हेतु रघुवरको हे श्री श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम नाम महाराज की श्री अखंड विजय मंत्र संकीर्तन की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री ब्रजरज रानी की श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की श्री गुरुदेव भगवान की श्री द्वारिकाधीश की श्री नागेश्वर महादेव की श्री सोमनाथ महादेव की श्री संकीर्तन महामंदिर की संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय पर करुणामय गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री दास जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर हर महादेव शास्त्री जी वहां बैठे हैं यहां जाए जाएं बड़े भाग्यशाली हैं सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रतनीक परमानंद कंद सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की महती कृपा करुणा से एवं इस वर्तमान सदी के चैतन्य देव संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की सत प्रेरणा से हम आप सब गोस्वामी जी के समग्र जीवन की सर्वोत्कृष्ट कृति सर्वश्रेष्ठ कृति विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग करने के लिए परम पवित्र स्थल में विराजमान है नाम मंदिर में विराजमान है जहां के कण कण में श्री राम जय राम जय जय राम की ध्वनि गुंजित हो रही है ऐसे पवित्र स्थल में बैठ करके हम लोग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में एक वाक्य है श्री सुखदेव जी महाराज का सुखदेव जी कहते हैं भारतवासियों को भजन कीर्तन सत्संग भगवान की सेवा पूजा आराधना उपासना करते हुए देखकर देवता भारतवर्ष में जन्म लेने वालों के सौभाग्य की सराहना करते हैं प्रशंसा करते हैं और वे कहते हैं अहो अमीशाम किमकारिशोभनम प्रसन्न ये शाम श्वेदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृशुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा देवता कहते हैं इन भारतवासियों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था पुण्य कर्म किया था जो इनका जन्म भारत के प्रांगण में हो गया यही जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे भारत के आंगन में भारत की धरती में जिन्होंने जन्म प्राप्त किया इन्होंने कौन सा शुभ कर्म किया था हम लोगों की सोचने विचारने की समझने की शक्ति अत्यंत सीमित है मनुष्य होने के कारण हमसे अधिक सोचने समझने की और क्षमता हमसे भी अधिक ज्ञान भूत प्रेत आदि को होता है ये बात बड़ी अटपटी सी लगेगी लेकिन ये बात सही है ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित वो ओझा के सिर पर आते हैं आखिर वह भूत योनि ही तो है लेकिन वे तमाम भूत भविष्य की बातों को बिल्कुल बता देते हैं और वे प्राय सही निकलती हैं भूत नहीं तो गोस्वामी जी को पता बताया मनुष्य ने नहीं बताया कि हनुमान जी कहां आकर बैठकर कथा सुनते भूत ने बताया कि गोस्वामी जी आप दर्शन करना चाहते हैं तो राम दुबारे तुम रखवारे होत नाज्ञा बिनु पैसारे श्री हनुमत लाल की कृपा के बिना श्री राम जी का दर्शन संभव नहीं तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे बोले हनुमान जी तो रोज कथा सुनने आते हैं किस वेश में आते हैं कुश्ती के वेश में कथा सुनने आते हैं लगता है हनुमान जी का दर्शन करके ही गोस्वामी जी ने कहा होगा नाम जपत कुश्ती भलो गली गली गिरे जो चाम नाम जप करता है कुश्ती श्रेष्ठ है और कंचन जैसी देह पाकर के कोई नाम जप नहीं करता तो उसकी देह किस काम की है कृमिविड भस्म संज्ञानतम या तो पशु खा करके मांस भोजी पशु पक्षी खा करके विष्टा कर देंगे अथवा संस्कार के अभाव में कीड़े पड़ जाएंगे अथवा आग में जल करके एक मुट्ठी राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा या तो कीड़े के रूप में परिवर्तित होने वाला है या विष्टा के रूप में परिवर्तित होने वाला है या फिर राख की ढेरी बन जाने वाला है श्री मलुकदास जी महाराज ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत खाते काग शरीर देख के अरे कितना बढ़िया कितना बढ़िया लग रहा है ए, कितना खराब लग रहा है लेकिन मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग इस पर चमड़ी न भगवान ने मड़ी होती तो जीते जी कौआ गीध चील नोच के खा गए होते ये है शरीर सिद्धकूटी के संत भक्त वे अपने स्वरूप को छिपा करके विचरण कर रहे हैं आज भी रहे सदा अपन पो दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए पर पहचान होने पर किए हूं कुवेश साधु सनमान जिमि जग जाम बंत हनुमान और सुवेश बोले लखी सुवेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पूज यही तेऊ लेकिन बाद में पहचान होने पर उघ रही अंतन हो ही निवाहु काल ने मिजिमि रावण राव इसलिए तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर परम श्रद्धे सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का दर्शन करके कौन कहेगा कि ये महान संत हैं लेकिन संत की पहचान है जितने अधिक निकट होते चले जाए उतनी अधिक श्रद्धा बढ़ती चली जाए ये संत की श्रेष्ठ पहचान है दूर से बहुत नाम है बहुत यश है बड़ी श्रद्धा हुई ज्यो ज्यो निकट होते चले गए पता चला रे असलियत तो कुछ भी नहीं है वही कहावत है दूर के ढोल सुहावने होते हैं संतत्व यही है साधुता यही है हम जितने अंतरंग होते चले जाएं हमारी श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाए संतों के जीवन में पर्दा नहीं होता छिपाव दुराव नहीं होता वे हर समय एक जैसे रहते हैं यहां अलग और वहां अलग ये नहीं एक जैसे मनवाणी क्रिया में उनके एक रूपता होती है गोस्वामी जी ने पहचान लिया आज भी जहां गोस्वामी जी को हनुमत दर्शन हुआ है वहां संकट मोचन हनुमान काशी में आज भी विराजमान है गोस्वामी जी ने काशी में बारह हनुमान जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा की द्वादश विग्रह प्रतिष्ठित किए एक विग्रह चित्रकूट में भी प्रतिष्ठित किया नांदी हनुमान हनुमान जी ने श्री राम जी का दर्शन चित्रकूट में कराया एक बार नहीं दो दो बार दर्शन कराया और तीसरी बार तो पूरे दरबार का दर्शन उन गोस्वामी जी महाराज उनकी जीवन की सर्वोत्कृष्ट कृति है श्री विनय पत्रिका तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि मनुष्य की अपेक्षा भूतों का ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है नहीं होता तो गोस्वामी जी को पता कैसे बताते कि हनुमान जी आके कथा सुनते पर भूतों से प्रेतों का प्रेतों से पिशाचों का पिशाचों से प्रमथों का प्रमथों से गंधर्वों का गंधर्वों से चारणों का चारणों से किन्नरों का किन्नरों से किम पुरुषों का किम पुरुषों से सिद्धों का सिद्धों से देवताओं का देवताओं से मनुओं का देवताओं से प्रजापतियों का प्रजापति देवताओं में सबसे अधिक ज्ञान इंद्र को होता उससे अधिक ज्ञान प्रजापतियों को होता प्रजापतियों से अधिक ज्ञान मनु को होता है मनु जी से अधिक ज्ञान श्री शंकर जी को है भगवान शंकर यद्यपि साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिवा भारतवर्ष की उपासना हरिहरात्मक है किंतु सृष्टि के क्रम में वे ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होना स्वीकार करते हैं इसलिए उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्मा जी का कहा गया और ब्रह्मा जी का भी मूल कारण भगवान श्री हरि हैं उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान किसका है भगवान का है देवताओं में भी सर्वज्ञता है किंतु परिपूर्ण सर्वज्ञता नहीं परिपूर्ण सर्वज्ञता प्रभु श्री राम में है श्री कृष्ण में है श्री नारायण में मानस जी में गोस्वामी जी ने विवेचन किया है शंकर जी के समझाने पर भी सती जी का संदेह नहीं गया और वे राम जी की परीक्षा लेने श्री सीता जी का स्वरूप धारण करके पहुंच गई लौट के आई राम जी ने कुछ लीला भी अपनी दिखाई कथा आप सब जानते ही हैं तो कहा क्यों देवी परीक्षा ले आई मानस राम चंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीषशुकसौनकभीष्मदाल् व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्तभक्तिभगवन्तगुरुचतुरनाम गुरुचतुर्नां वपुवेक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नने नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनु च प्रणवामि पुनः पुनः अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकी कपी कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वन्दं गुरुपदकुञ्ज कृपा सिन्धुनररूपहरिमहामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं बदां च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितम् संच बंदों नाम राम रघुवर को हिम कर को श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गजरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम नाम महाराज की श्री अखंड विजय मंत्र संकीर्तन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री ब्रजरज रानी की श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की श्री गुरुदेव भगवान की श्री द्वारिकाधीश की श्री नागेश्वर महादेव की जय श्री सोमनाथ महादेव की जय श्री संकीर्तन महामंदिर की जय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय पर करुणामय गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री रणछोरदास जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर हर महादेव शास्त्री जी वहां बैठे हैं यहां जाए बड़े भाग्यशाली हैं सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रतनीक परमानंद कंद सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की महती कृपा करुणा से एवं इस वर्तमान सदी के चैतन्य देव संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की सत प्रेरणा से हम आप सब गोस्वामी जी के समग्र जीवन की सर्वोत्कृष्ट कृति सर्वश्रेष्ठ कृति विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग करने के लिए परम पवित्र स्थल में विराजमान है नाम मंदिर में विराजमान है जहां के कण कण में श्री राम जय राम जय जय राम की ध्वनि गुंजित हो रही है ऐसे पवित्र स्थल में बैठ करके हम लोग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में एक वाक्य है श्री सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं भारतवासियों को भजन कीर्तन सत्संग भगवान की सेवा पूजा आराधना उपासना करते हुए देखकर देवता भारतवर्ष में जन्म लेने वालों के सौभाग्य की सराहना करते हैं प्रशंसा करते हैं और वे कहते हैं अहो अमीशाम किमकारिशोभनम प्रसन्न स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृशुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा देवता कहते हैं इन भारतवासियों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था पुण्य कर्म किया था जो इनका जन्म भारत के प्रांगण में हो गया यही जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे भारत के आंगन में भारत की धरती में जिन्होंने जन्म प्राप्त किया इन्होंने कौन सा शुभ कर्म किया था हम लोगों की सोचने विचारने की समझने की शक्ति अत्यंत सीमित है मनुष्य होने के कारण हमसे अधिक सोचने समझने की और क्षमता हमसे भी अधिक ज्ञान भूत प्रेत आदि को होता है ये बात बड़ी अटपटी सी लगेगी लेकिन ये बात सही है ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित वो ओझा के सिर पर आते हैं आखिर वह भूत योनि ही तो है लेकिन वे तमाम भूत भविष्य की बातों को बिल्कुल बता देते हैं और वे प्राय सही निकलती हैं भूत नहीं तो गोस्वामी जी को पता बताया मनुष्य ने नहीं बताया कि हनुमान जी कहां आकर बैठकर कथा सुनते भूत ने बताया कि गोस्वामी जी आप दर्शन करना चाहते हैं तो राम दुबारे तुम रखवारे होत ना गया बिनु पैसारे श्री हनुमंत लाल की कृपा के बिना श्री राम जी का दर्शन संभव नहीं वो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे बोले हनुमान जी तो रोज कथा सुनने आते हैं किस वेश में आते हैं कुष्टी के वेश में कथा सुनने आते हैं लगता है हनुमान जी का दर्शन करके ही गोस्वामी जी ने कहा होगा नाम जपत कुष्टी भलो गली गली गिरे जो चाम नाम जप करता है कुष्टी श्रेष्ठ है और कंचन जैसी देह पाकर के कोई नाम जप नहीं करता तो उसकी देह किस काम की है क्रमविड भस्म संज्ञानतम या तो पशु खा करके मांस भोजी पशु पक्षी खा करके विष्टा कर देंगे अथवा संस्कार के अभाव में कीड़े पड़ जाएंगे अथवा आग में जल करके एक मुट्ठी राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा या तो कीड़े के रूप में परिवर्तित होने वाला है या विष्टा के रूप में परिवर्तित होने वाला है या फिर राख की ढेरी बन जाने वाला है श्री मलुकदास जी महाराज ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत खाते काग शरीर देख के अरे कितना बढ़िया कितना बढ़िया लग रहा है ए, कितना खराब लग रहा है लेकिन मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग इस पर चमड़ी न भगवान ने मड़ी होती तो जीते जी कौआ गीध चील नोच के खा गए होते ये है शरीर सिद्धकूटी के संत भक्त वे अपने स्वरूप को छिपा करके विचरण कर रहे हैं आज भी रहे सदा अपन पो दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए पर पहचान होने पर किए हूं कुवेश साधु सनमान जिम जग जाम बंत हनुमान और सुवेश बोले लखी सुवेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पूज यही तेऊ लेकिन बाद में पहचान होने पर उघर ही अंतन हो ही निवाहु काल ने मिजिमी रावण राव इसलिए तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर परम श्रद्धे सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का दर्शन करके कौन कहेगा कि ये महान संत हैं लेकिन संत की पहचान है जितने अधिक निकट होते चले जाए उतनी अधिक श्रद्धा बढ़ती चली जाए ये संत की श्रेष्ठ पहचान है दूर से बहुत नाम है बहुत यश है बड़ी श्रद्धा हुई ज्यो ज्यो निकट होते चले गए पता चला अरे असलियत तो कुछ भी नहीं है वही कहावत है दूर के ढोल सुहावने होते हैं संतत्व यही है साधुता यही है हम जितने अंतरंग होते चले जाएं हमारी श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाए संतों के जीवन में पर्दा नहीं होता छिपाव दुराव नहीं होता वे हर समय एक जैसे रहते हैं यहां अलग और वहां अलग ये नहीं एक जैसे मनवाणी क्रिया में उनके एक रूपता होती है गोस्वामी जी ने पहचान लिया आज भी जहां गोस्वामी जी को हनुमत दर्शन हुआ है वहां संकट मोचन हनुमान काशी में आज भी विराजमान गोस्वामी जी ने काशी में बारह हनुमान जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा की द्वादश विग्रह प्रतिष्ठित किए एक विग्रह चित्रकूट में भी प्रतिष्ठित किया नांदी हनुमान हनुमान जी ने श्री राम जी का दर्शन चित्रकूट में कराया एक बार नहीं दो दो बार दर्शन कराया और तीसरी बार तो पूरे दरबार का दर्शन उन गोस्वामी जी महाराज उनकी जीवन की सर्वोत्कृष्ट कृति है श्री विनय पत्रिका तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि मनुष्य की अपेक्षा भूतों का ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है नहीं होता तो गोस्वामी जी को पता कैसे बताते क्या हनुमान जी आके कथा सुनते पर भी भूतों से प्रेतों का प्रेतों से पिशाचों का पिशाचों से प्रमथों का प्रमथों से गंधर्वों का गंधर्वों से चारणों का चारणों से किन्नरों का किन्नरों से किम पुरुषों का किम पुरुषों से सिद्धों का सिद्धों से देवताओं का देवताओं से मनुओं का देवताओं से प्रजापतियों का प्रजापति देवताओं में सबसे अधिक ज्ञान इंद्र को होता उससे अधिक ज्ञान प्रजापतियों को होता प्रजापतियों से अधिक ज्ञान मनु को होता है मनु जी से अधिक ज्ञान श्री शंकर जी को है भगवान शंकर यद्यपि साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिव भारतवर्ष की उपासना हरिहरात्मक है किंतु सृष्टि के क्रम में वे ब्रह्मा जी के भूमध्य से प्रकट होना स्वीकार करते हैं इसलिए उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्मा जी का कहा गया और ब्रह्मा जी का भी मूल कारण भगवान श्री हरि हैं उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान किसका है भगवान का है देवताओं में भी सर्वज्ञता है किंतु परिपूर्ण सर्वज्ञता नहीं परिपूर्ण सर्वज्ञता प्रभु श्री राम में है श्री कृष्ण में है श्री नारायण में है मानस जी में गोस्वामी जी ने विवेचन किया है शंकर जी के समझाने पर भी सती जी का संदेह नहीं गया और वे राम जी की परीक्षा लेने श्री सीता जी का स्वरूप धारण करके पहुंच गई लौट के आई राम जी ने कुछ लीला भी अपनी दिखाई कथा आप सब जानते ही हैं तो कहा क्यों देवी परीक्षा ले आई